भरतानुजलि मन दुसह विरह बिरहसं भव मेटे। सीता चरण भरत शिर न अनुज अनुज समेतप रम सुख पावा प्रभु बिलो की हर से पूर्वासे जनित वियोग विपति सब नासे प्रेमा तुर सब लोग निहारी कौतुक के कृपाल खरारी फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया अमित रूप प्रगटे ही काला यथा जोग मिले सब ही कृपाला कृपा दृष्टि रघु वीर बिलो की किए सकल नर नारी विशो की छन मह सब मिले भगवाना उमा मरम यह काहू न जाना यही विधि सब सुखी कर राम आगे चले शील गुण धाम कौशल्या दे मातु सब धाये निरख बच्छ जनु धेनु लबाए उसी समय कृपालु राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए हे उमा यह रहस्य किसी ने नहीं जाना इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो जनु बालक बचत जे गृह चरण बन पर बस गई दिनयंत पुर रुक स्रवत थन हुंकार कर धावत भई अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन मृदु बहु विधि कहे गई विषम विपति वियोग भवतिन हरस सुख यगनित लहे मानो नई ब्याई हुई गौवें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चले गए हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए भेटेउ तनय सुमित्रा राम चरण रति जान राम हि मिलत कै कै हृदय बहुत सकुचान भेटेउ तनय सुमित्रा राम चरण रति जान राम हि मिलत कै कै हृदय बहुत सकुचायन लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाए कह कई कह पुन पुन मिले मन कर शोभन जाय सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिले श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सुख सुखचाई लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता